ओशो पद घुंघरू बांध talks on the songs of Meera from the series Juk Ai Badriya Savan Ki given at Osho Commune International, Pune, India. Discourse number 20. पहला प्रश्न प्यारे भगवान मैं रो गाऊ या मुस्कुराऊ नौ साल दूर कैसे रह गई समझ नहीं पाती अब पास आकर ऐसी रसा है कि हमेशा रोआ रोआ कांपता रहता है चाहे सोई रहूं या जागी हुई इस अवस्था पर आनंद भी अनुभव होता है और झुंझलाहट भी कोई रास्ता दिखाने की कृपा करे वीणा रोना गाना और हंसना तीनों साथ चल सकते चुनाव की कोई जरूरत नहीं त्रिवेणी सुंदर होगी एक गरीब होगा तीनों बहुत समृद्ध होंगे लेकिन तर्क से भरा हुआ मन हमेशा चुनाव करता है रो गांव या मुस्कुराऊ तीनों साथ चलने दो रोने और हंसने में कोई विरोध नहीं कभी कभी तो हंसने की गहराई ही आंसुओं में रूपांतरित हो जाती रोना जरूरी रूप से दुख के कारण ही नहीं होता रोना आनंद से भी होता है और वीणा का रोना निश्चित ही आनंद से हो रहा होगा रोने का अर्थ क्या है रोने का अर्थ है कोई भाव इतना प्रबल हो गया है कि अब आंसुओं के अतिरिक्त उसे प्रकट करने का कोई और उपाय नहीं फिर वो भाव चाहे दुख का हो चाहे आनंद का हो आंसू अभिव्यक्ति के माध्यम है गहन भावनाओं को जो हृदय के गहरे से उठती हैं वे आंसुओं में ही प्रकट हो सकती है शब्द छोटे पड़ते हैं गीत छोटे पड़ते जहां गीत चुक जाते हैं वहां आंसू शुरू होते जो किसी और तरह से प्रकट नहीं होता वह आंसुओं से प्रकट होता है आंसू तुम्हारे भीतर कोई ऐसी भाव दशा से उठते हैं जिसे संभालना और संभव नहीं जिसे तुम ना संभाल सकोगे जिसकी बाढ़ तुम्हें बाहर ले जाती फिर ये आंसू चूंकि आनंद के हैं इनमें मुस्कुराहट भी मिली होगी इनमें हंसी का स्वर भी होगा और चूंकि ये आंसू अहोभाव के हैं इनमें गीत की ध्वनि भी होगी तो गाओ भी रो भी हंसो भी तीनों साथ चलने दो कंजूसी क्या एक क्यों तीनों क्यों नहीं लेकिन मन हिसाबी किताबी वो सोचता है एक करना ठीक मालूम पड़ता है या तो गालो या रो लो मैं तुमसे कहता हूं कि इस हिसाब को तोड़ने की ही तो सारी चेष्टा चल रही यही तो दीवाने होने का अर्थ है तुमने अगर कभी किसी को रोते हंसते गाते एक साथ देखा हो तो सोचा होगा पागल पागल ही कर सकता है इतनी हिम्मत होशियार तो कमजोर होता है होशियारी के कारण कमजोर होता है होशियार तो सोच सोच के कदम रखता संभाल संभाल के कदम रख उसी संभालने में तो चूकता चला जाता है होशियारों को कब परमात्मा मिला होशियार चाहे संसार में साम्राज्य को स्थापित कर ले परमात्मा के जगत में बिल्कुल ही वंचित रह जाते वह राज्य उनका नहीं वह राज्य तो दीवानों का है वह राज्य तो उनका है जिन्होंने तर्क जाल तोड़ा जो भावनाओं के रहस्यपूर्ण लोक में प्रविष्ट हुए इन तीनों द्वारों को एक साथ ही खुलने दो परमात्मा ने हृदय पर दस्तक दी है तब ऐसा होता है इसे सौभाग्य समझो मैं रो गाऊं या मुस्कुराऊं नौ साल दूर कैसे रह गई समझ नहीं पाती वीणा मुझे नौ साल पहले मिली थी करीब आते आते दूर हो गई करीब आना आसान भी नहीं हजार चीजें रोकती हैं फिर मेरे करीब आना तो और भी कठिन है जिनमें प्रेम का पागलपन है वे ही करीब आ सकेंगे क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारी सांत्वना के लिए नहीं कहा गया है तो कभी कभी ऐसा होता है मेरी कोई बात तुम्हें सांत्वना की लगती तो तुम करीब आ जाते हो और मेरी कोई बात तुम्हें चोट कर देती तो तुम दूर हट जाते हो तुम्हें जिस बात से सुख मिलता है तो करीब आ जाते हो और जिस बात से तुम्हें दुख मिलता है तो दूर हट जाते हो तुम मुझसे थोड़ी लगे हो तुम अपने ही धारणाओं से चिपटे हो तुम्हारी धारणाओं को जिस बात से समर्थन मिलता है तुम कहते ठीक कह रहे आप तुम्हारी धारणाओं को जिन बातों से चोट लग जाती तुम कहते अब बात गलत हो गई एक चर्च में पादरी बोल रहा था उसने पहले शराब का विरोध किया एक बूढ़ी स्त्री उठ उठ के कहने लगी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जुए का विरोध किया वो बूढ़ी स्त्री फिर भी बोली बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक वो सर्वाधिक आनंदित थी श्रोताओं में फिर चोरी का विरोध आया और उसने फिर कहा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है और तब उस पादरी ने कहा तमाकू खाना भी ठीक नहीं तमाकू बंद करो बुढ़िया बोली अब जरा बात गलत हो गई अब धर्म का बात धर्म की बात ना रही अब तो ये छुत्र बातों में पड़ने लगे ये बुढ़िया तमाकू खाती है जुआ उसे कोई अड़चन नहीं चोरी से उसे कोई अड़चन नहीं शराब से उसे कुछ अड़चन नहीं तमाखों की जब बात आती तो अड़चन शुरू हो जाती लेकिन वीणा किन्हीं सिद्धांतिक कारणों से दूर नहीं रह गई थी उसके कारण भावनागत थे डर पैदा हुआ कि अगर मेरे करीब और आई तो पति हैं बच्चे हैं परिवार है इनका क्या होगा ये मेरे अनुभव में आया है कि पुरुष दूर रह जाते सैद्धांतिक मतभेदों के कारण स्त्रियां दूर रह जाती उनकी आसक्तियों के कारण भय समाता है कि कहीं बात ऐसी ना हो जाए कहीं इतने आगे ना चली जाए कि फिर लौटना संभव ना हो तो नौ वर्ष वीणा बचने की कोशिश करती रही इस बचने की कोशिश में भी करीब आती गई नौ वर्ष मेरे पास नहीं आई नौ वर्ष मुझे सुना नहीं लेकिन इस बचने की कोशिश में भी करीब आती चली गई भीतर भीतर रस गहन होता रहा बीच फूटता रहा और जब इस बार करीब आई तो फिर न रोक सकी जो नौ वर्ष पहले होना था वो अब जाके हुआ अब संन्यास्त हुई ये नौ वर्ष पहले हो सकता था लेकिन नौ वर्ष पहले सांसारिक आसक्तियां जिम्मेदारियां और मजा यह है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों को तोड़ता नहीं ना तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करता हूं ना तुम्हें तुम्हारे बच्चों से अलग करता हूं सच तो यह है कि अगर तुम पति हो तो और बेहतर पति हो जाओगे और पत्नी हो तो और बेहतर पत्नी और मां हो तो पहली दफा मां बनोगी सन्यास तुम्हारे जीवन में सुगंध को जोड़ेगा लेकिन सन्यास की बहुत दिनों से चली आती जो जीवन विरोधी धारा है उससे घबराहट होती सन्यासी सदा ही जीवन विरोधी रहा है तो सन्यास शब्द ही विकृत हो गया सन्यास शब्द में ही जहर लग गया सन्यास शब्द का सौंदर्य खो गया उसका आकर्षण खो गया उसका अहोभाव खो गया वो कुछ उदास और रुग्ण और भगोड़ों की बात हो गई ठीक है कोई भाग जाए तो तुम कहते हो कि पैर छू लेंगे मगर तुम पीछे नहीं जाते हो तुम कभी बात भी सुन लेते हो भगोड़ों की एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते सन्यास शब्द से घबराहट हो गई क्योंकि सन्यास की पुरानी धारा विकृत हो गई थी रुग्ण हो गई थी ऐसा सदा नहीं था उपनिषद और वेदों में भी सन्यास था लेकिन वो सन्यास जीवन विरोधी नहीं था उपनिषद के ऋषि भी परम सन्यासी थे लेकिन जीवन विरोधी नहीं थे जीवन के मध्य थे उनकी पत्नियां थीं उनके बच्चे थे उनके परिवार थे जैनों और बौद्धों के प्रभाव में संन्यास ने एक अलग ही ढंग ले लिया फिर जब जैनों और बौद्धों ने वैराग्य जीवन विरोध जीवन का त्याग ऐसे संन्यास की परिभाषा की तो हिंदुओं को थोड़ी अड़चन लगने लगी अड़चन ये थी कि जैनों का संन्यास ज्यादा महिमाशाली दिखाई पड़ने लगा स्वभावता जो पत्नी छोड़ के चला गया बच्चे छोड़ के चला गया घर द्वार छोड़ दिया नग्न खड़ा हो गया उसके सामने उपनिषद के ऋषि फीके मालूम पड़ने लगे हिंदू धर्म की जड़ें डगमगाने लगी प्रतिक्रिया में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में भी वही जहर प्रविष्ट करवा दिया हिंदू संन्यास भी जीवन विरोधी हो गया मैं तुमसे कहना चाहता हूं जीवन का विरोध अंततः परमात्मा का विरोध है क्योंकि जीवन जिसका है जीवन में जो छिपा है जीवन के विरोध में तुम उसे भी चूक जाओगे और जीवन विरोधी संन्यास पूरी पृथ्वी को गैरिक नहीं कर सकता कुछ छोटे मोटे संख्या को शायद रसपूर्ण लगे लेकिन अधिक लोग बहुमत विशाल जन समुदाय उससे अछूता रह जाए और इस बड़ी पृथ्वी पर अगर एक आध व्यक्ति संन्यास्त हो जाए दो चार संन्यास्त हो जाए तो कुछ परिणाम नहीं होता सागर में बूंद की तरह खो जाते ये तो पूरा सागर ही रंगे तो ही किसी दिन सौभाग्य होगा वीणा डर गई थी डर उसका स्वाभाविक था क्योंकि नौ वर्ष के बाद आई पहले दिन और पहले दिन ही खो गई और पहले दिन ही डूब गई तो नौ वर्ष बीज भीतर अंकुरित होता रहा होगा आज जरूर पीड़ा लगेगी मन को नौ साल दूर कैसे रह गई समझ नहीं पाती हूँ जिस दिन तुम करीब आने शुरू होगे सत्य के उस दिन तुम्हें सभी को हैरानी होगी कि इतने इतने दिन कैसे दूर रह गए इतने इतने जन्म कैसे दूर रह गए और सत्य इतने करीब था इतना सुगम था इतना सरल था हाथ बढ़ाते तो मिल जाता परमात्मा पास ही खड़ा था और तुम चूकते गए चूकते गए अब पास आकर ऐसी दशा है कि हमेशा रोआ रोआ कांपता रहता है चाहे सोई रहूं या जागी हुई कांपेगा शुभ हो रहा है शुभ संकेत ही रो रो संन्यास्त होगा संन्यास तो शुरुआत है फिर रोआ रोआ डूबेगा फिर कंकण डूबेगा फिर जो आनंद की लहर हृदय में उठी है वो शरीर में भी व्याप्त होगी तुम्हारा पूरा अस्तित्व जब तक आच्छादित न हो जाएगा तब तक ये कंपन जारी रहेगा ये कंपन सृजनात्मक है इसे आनंद भाव से स्वीकार करना इस अवस्था पर आनंद भी अनुभव होता है और झुंझलाहट भी स्वभावतः आनंद अनुभव होगा क्योंकि कुछ घट रहा है जिसकी प्रतीक्षा थी झुकाई बदरिया सावन की जिसके लिए प्यास थी वो बादल आ गए लेकिन झुंझलाहट भी होगी क्योंकि इतना नया है कि तुम्हारे पास न भाषा है न व्याख्या है इतना नया है कि समझने का कोई उपाय नहीं इसलिए अहंकार को झुंझलाहट होती हृदय आनंदित होगा बुद्धि झुंझलाएगी हृदय रस से मग्न होगा हृदय नाचना चाहेगा हृदय पंख खोल आकाश में उड़ना चाहेगा और बुद्धि बड़ी बेचैनी अनुभव करेगी ये क्या हो रहा है तर्कातीत बुद्धि की जो समझ में नहीं आता बुद्धि उससे झुंझलाती बुद्धि कहती ऐसे काम में मत पड़ो जो मेरी समझ में नहीं आता ना समझी के काम में मत पड़ो लेकिन बुद्धि के ऊपर भी एक समझ है हृदय की और जब हृदय की समझ खुलनी शुरू होती कौन सुनता है बुद्धि की जो सुने वो अभागा है इसलिए दोनों बातें होंगी आनंद भी होगा झुंझलाहट भी होगी झुंझलाहट होगी सिर में आनंद होगा हृदय में धड़कन में श्वास श्वास में आनंद भर जाएगा और विचार विचार में झुंझाहट हो जाएगी विचार की मत सुनना विचार व्यर्थ के साथ जुड़ा है विचार सीमित के साथ जुड़ा है विचार क्षुद्र के साथ बंधा है उसकी क्षुद्र से सगाई हुई वो धन पैसा पद प्रतिष्ठा इनकी दुनिया में कुशल है प्रेम और परमात्मा और समाधि इस दुनिया में उसकी कोई गति नहीं है वो जमीन पर सरकने के लिए ठीक है आकाश में उड़ने की उसकी क्षमता नहीं आकाश में उड़ना हो तो हृदय के पंखों पर सवार होना होगा आनंद की सुनना तुम्हारे भीतर जो विधायक है उसमें ही डूबो और जो नकारात्मक है उसकी उपेक्षा करो ताकि धीरे धीरे विधेय ही तुम्हारा जीवन हो जाए नकार अपने आप गिर जाएगा सूखेगा कुमलाएगा पानी मत दो अब नकार को अब झुंझलाहट को पानी मत देना होती हो होने देना तुम तो पानी देते जाना आनंद के भाव को इस अवस्था में आनंद भी अनुभव होता और झुंझलाहट भी कोई रास्ता दिखाने की कृपा करे रास्ता दिखाने की कृपा करें इस प्रश्न में आकांक्षा है कि किसी तरह झुंझलाहट न हो क्योंकि आनंद से तो कोई मुक्त होना नहीं चाहता झुंझलाहट न हो झुंझलाहट न हो इसके दो उपाय हैं एक उपाय तो यह कि फिर वापस बुद्धि की सुनने लगो तो झुंझलाहट भी बंद हो जाएगी और आनंद भी बंद हो जाए यही अधिक लोग करते बुद्धि इतनी झुंझलाहट पैदा कर देती इतनी झंझट खड़ी कर देती इस तरह प्रतिपल कोचने लगती कि तुम कहते हो ये आनंद तो महंगा हुआ छोड़ो जाने दो आनंद को भी और जाने दो झुंझलाहट को भी मगर तब महंगा सौदा हो जाएगा वो रास्ता ना हुआ भटकना हो गया दूसरी बात जो कि वस्तुतः रास्ते की बात है वह है कि आनंद में और गहरे उतरो इतने गहरे उतरो कि तुम्हारे पास झुंझलाने के लिए कोई शक्ति ही ना बचे सारी शक्ति आनंद में डुबा दो झुंझलाहट के लिए भी शक्ति चाहिए तभी वीणा दो हिस्सों में बटी होगी कुछ हिस्सा झुंझलाहट में जा रहा है कुछ हिस्सा आनंद में जा रहा है पूरे पूरे आनंद में चल पड़ो पागली होना हो तो पूरे होना उचित है छोड़ो लोक लाज नाचो गाओ हंसो रो दूसरों की आंखों में मत देखो अपने भीतर झांको दूसरे क्या कहते हैं इसकी फिक्र छोड़ो दूसरों के मंतव्य पर बहुत ध्यान दिया तो ये आनंद चूक जाएगा क्योंकि दूसरे लोग दुखी हैं उनके मंतव्य दुख से उठ रहे हैं दूसरे लोग अंधे हैं उनके मंतव्य उनके अंधेपन से उठ रहे हैं अंधों की मत सुनना मीरा कहती साध देख राजी भई जगत देख रोई मीरा कहती साधु को देखा तो राजी हो गई हृदय आनंदित हुआ क्योंकि साधु समझा पहचाना उसने जो कहा वो पते की बात थी संसारिक समझा ही नहीं उसने जो कहा उससे चोट पहुंची उसने जो कहा उससे घाव बने रास्ता क्या है रास्ता है कि अब झुंझलाहट की उपेक्षा करो छोटी सी भी शक्ति ना बचे आनंद के बाहर सारा हृदय आनंद में डूब जाए झुंझलाहट करने योग्य कुछ बचे ही ना भीतर तभी झुंझलाहट से वस्तुतः मुक्ति होगी आनंद ही आनंद एक दिन शेष रह जाएगा आनंद का सहयोग करो झुंझलाहट से असहयोग करो यही रास्ता है लौटने का उपाय भी नहीं है जहां तक वीणा का संबंध है मैं कह सकता हूं लौटने का कोई उपाय भी नहीं लेकिन अगर झुंझलाहट को साथ दिया तो देर लग जाएगी परम घटना के घटने में समय लंबा हो जाए दो दो नाव पर सवार मत हो अब पूरे ही एक नाव पर सवार हो जाओ आनंद की पूरी सुनने का मतलब यही होता है कि अब अपनी मस्ती में जियो अब दूसरे और कोई कारण इस मस्ती में बाधा ना बने तुम डोल रहे मस्ती में कोई खड़ा देख रहा उसकी वजह से रुको मत पागल ही कहेगा ना क्या बनता बिगड़ता है क्या हर्जा है लोग पागल ही समझ ले तो क्या हर्जा है मीरा को उन्होंने दीवाना समझा इससे मीरा की कोई हानि नहीं हुई ये सोच के कि लोग पागल समझते हैं मीरा अगर समझदार हो गई होती तो चूक गई होती सदा के लिए चूक गई होती तुम्हारे भीतर जो संसार की आवाज है वही झुंझला रही है और तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की आवाज है वो गीत गाना चाहती रोना चाहती हंसना चाहती नाचना चाहती इस तन की वीणा बना लो छेड़ो तारों को गाओ इधर तुम गाने लगे और तुम पाओगे उधर परमात्मा करीब आने लगा परमात्मा उन्हीं के साथ है जिनके हृदय गीत गाते हुए हैं दूसरा प्रश्न जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो आवागमन कैसे मिटे यह प्रश्न इसलिए उठाता है कि तुम सुनते हो संतों की वाणी वे सभी कहते हैं आवागमन से छूटो मुक्त हो जाओ बंधनों से उनकी बात सुन के तुम भी सोचने लगते हो कि मुक्त हो जाएं बंधनों से आवागमन से छूट जाएं परम आनंद होगा प्रभु का मिलन होगा मोक्ष होगा तुम्हारे भीतर वासना पैदा हो जाती संतों की बात सुन के तुम्हारे भीतर मोक्ष के आनंद की वासना पैदा हो जाती ये एक नया बंधन हुआ वासना बंधन है ये एक नई तृष्णा हुई तुम चूक गए बात तुम संतों की बात नहीं समझे संतों की बात अगर ठीक से समझो तो यही समझ में आएगा कि जब तृष्णा न रह जाएगी वासना न रह जाएगी तब जो शेष रहेगा वह मोक्ष मोक्ष की कोई वासना नहीं हो सकती अब तुम पूछते हो जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो क्यों क्या जरूरत पड़ी है तुम कहोगे मोक्ष का सुख पाना लेकिन सुख पाने की आकांक्षा ही तो बंधन है तुम कहते हो आवागमन कैसे मिटे क्यों अमृत की उपलब्धि करनी लेकिन क्यों तुम्हारे भीतर एक नई वासना का सूत्रपात हुआ ये तो संसार का फैलाव है चूक गए ठीक ठीक पकड़ नहीं पाए बात और जिस ढंग से पकड़ी उस ढंग से पकड़ने में ही सब गलत हो गया संत कुछ कहते हैं तुम कुछ समझते हो तुम्हारी व्याख्या विकृत कर देती बुद्ध ने कहा वासनाओं से छूट जाओ तो लोग उनसे जाके पूछते हैं कि ठीक चलो वासना से छूट जाए कैसे छूटे अब ये नई वासना पैदा हो गई कि वासना से कैसे छूटे अब ये सताएगी अब ये प्राण में कांटे की तरह चुभेगी अब ये घाव बनाएगी कि वासना से कैसे छूटे ये नई वासना पैदा हो गई और ये बड़ी खतरनाक वासना है पहली वासनाएं तो ऐसी थी कि शायद पूरी भी हो जाती लगे ही रहते धुन में तो हो ही जाती है कोई धन के पीछे लगा ही रहे लगा ही रहे एक ना एक दिन धन पा ही लेता फिर सिर पीटता है जो पा लिया अब वो दूसरी बात है कोई पद के पीछे लगा ही रहे लगा ही रहे तो एक दिन पा ही लेता है इस संसार में सभी कुछ पाया जा सकता है लेकिन ये निर्वासना कैसे पाई जाएगी ये तो बिल्कुल नहीं पाई जा सकती पाने की भाषा ही वहां गलत है वहां तो समझ ही काम आती पाना काम नहीं आता तुम वासनाओं को समझ लो कि उनमें कष्ट है मेरे कहने से नहीं मेरे कहने से समझे तो समझे नहीं अपनी वासनाओं को ही अनुभव करो तुम धन के पीछे दौड़ दौड़ के कितना कष्ट पा रहे हो फिर धन तुम्हें मिल भी गया क्या मिला देखो निरीक्षण करो जाग के अपने जीवन की प्रक्रिया को समझो अपने मन के ढांचे को पहचानो जैसे जैसे तुम्हें कष्ट साफ होने लगेगा वैसे वैसे ही तुम पाओगे कि तुम्हारी मुट्ठी संसार पे खुलने लगी त्याग नहीं करना पड़ेगा त्याग हो जाएगा और ये बड़ी अलग बात है इसलिए मैं कहता हूं त्याग तो करने ही मत क्योंकि त्याग करने का मतलब है कच्चा त्याग हो जाए तुम हाथ में एक पत्थर लिए चल रहे थे सोचते थे हीरा है तो खूब मुट्ठी कस के बांधी थी फिर तुम्हें समझ में आना शुरू हुआ जौहरियों के पास बैठे जौहरी की गति जौहरी जाने जौहरियों के पास बैठे साधु संग किया पहचान आनी शुरू हुई अपनी मुट्ठी का पत्थर गौर से देखने लगे समझ में आया कि ये तो हीरा नहीं है क्या तुम सोचते हो फिर मुट्ठी खोलने के लिए कोई आयोजन करना होगा फिर मुट्ठी कैसे न बांधू ये तुम पूछने जाओगे तुम किसी से कहोगे कि हे गुरुदेव अब मुझे कुछ रास्ता बताएं कि इस पत्थर को कैसे छोड़ू ये तो बात ही व्यर्थ होगी जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया ये पत्थर है कि कांच का टुकड़ा है हीरा नहीं उसकी क्षण मुट्ठी खुल जाएगी खोलनी नहीं पड़ेगी खोलने के लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा मुट्ठी खुल जाएगी पत्थर हाथ से छूट जाएगा छोड़ना पड़े तो गलत छूट जाए ठीक फर्क समझ लेना बारीक फर्क बाहर से जो देखेगा उसको तो कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा तुम छोड़ रहे हो कि छूट गया बाहर से तो कुछ पता नहीं चलेगा बाहर से तो दोनों एक से मालूम होंगे मुट्ठी खुली पत्थर गिरा मगर तुम भीतर तो जान सकते हो भेद बड़ा है छोड़ा कि छूटा जो छूटा तो मुक्ति हो गई जो छोड़ा फिर लौटा होगी क्योंकि छोड़ने का मतलब ही ये होता है अभी दिखा ना था कि पत्थर है मन में तो भी यही लगा था कि है तो हीरा मगर भी साधु लोग कह रहे हैं कि पत्थर है ये जोहरी कहते हैं पत्थर है, है तो हीरा मैं तो पचास साल से जानता हूं कि हीरा है लेकिन ये कहते हैं पत्थर है शायद ठीक कहते हूं शायद मैं गलत हूं लेकिन शायद पक्का नहीं है साफ नहीं हुआ है तुम अभी जौहरी नहीं हो गए हो अभी तुम्हारी आंख में पहचान नहीं आई है तो छोड़ना पड़ेगा तो तुम उपाय करोगे आसन लगाओगे सिर के बल खड़े होोगे माला जपोगे दौड़ोगे उछलोगे कूदोगे लाख उपाय करोगे कि कैसे इसको छोड़ दू पकड़े हो और भीतर मन कह रहा है कि पता नहीं कहीं धड़ी ना हो जाए हीरा हाथ में लगा था कहीं छूट ना जाए कभी कभी छोड़ भी वो फिर उठा लोगे छोड़ के दो कदम जाओगे फिर लौट आओगे कि छोड़ो भी किन की बातों में पड़े हो पता इनको भी ना हो कौन जाने या कौन जाने कि मैं इधर छोड़ के जाऊं और साधु महाराज खुद उठा लें कोई धोखाधड़ी हो सिर्फ मुझे समझा रहा हूं कि पत्थर है सिर्फ इसलिए कि मैं छोड़ दू कौन जाने फिर उठा लेते हो फिर फिर उठा लेते हो कच्चा फल जैसे वृक्ष से अटका रहता ऐसे तुम अटके हो जब फल पक जाता है छूट जाता अपने से छूट जाता पका फल गिर जाता चुपचाप गिर जाता तुमने पके पत्तों को गिरते देखा कहीं कोई चोट नहीं लगती वृक्ष पे कोई घाव नहीं छूटता वृक्ष को पता ही नहीं चलता वृक्ष हो सकता है अपनी शांति में डूबा हो कब सूखा पत्ता गिर गया वृक्ष को शायद महीनों बाद पता चले जब गौर से देखे कि कहा गया एक पत्ता यहां हुआ करता था वो तो अब तक मिट्टी में मिल चुका होगा लेकिन कच्चा पत्ता जब तुम तोड़ते हो तो वृक्ष को चोट लगती घाव लगता रेखा छूट जाती जो पक जाता है अपने से छूट जाता है तो मैं तुमसे कहूंगा जीवन को छोड़ने की आकांक्षा मत करो जीवन को समझो मैं तुमसे ये नहीं कहता हीरा छोड़ दो मैं तुमसे ये कहता हूं हीरा पहचानो छोड़ने की जल्दी क्या है जिस दिन पहचान तुम्हारी पूरी हो जाएगी जिस दिन तुम जौहरी हो जाओगे उस दिन तुम पूछने न जाओगे कैसे छोड़ तुम छूट जाएगा छोड़ने के लिए कोई आयोजन न करना पड़ेगा इसी को मैं परम सन्यास कहता हूं जो समझ से फलित हो फिर तुम्हें घर से भागने की जरूरत नहीं है घर में रहते घर छूट जाता है पत्नी के पास बैठे बैठे पत्नी विल, विलीन हो जाती बेटे के पास बैठे बैठे बेटा तुम्हारा नहीं रह जाता मेरे का भाव विलीन हो जाता जहां मेरे का भाव गया वहीं संसार गया तुम दूर दूर से देख रहे हो तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है साधु पुरुष कुछ कह रहे हैं साधु पुरुष पास खड़े हैं उन्होंने अनुभव से देखा है तुम्हारे और उनके अनुभव में मेल नहीं इसलिए प्रश्न उठता है कैसे मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कैसे बताऊं कैसे बता बता के तुम्हें बहुत तकलीफ दे दी गई है मैं चाहता हूं कि तुम्हें करीब लाऊं इसलिए कहता हूं जीवन से भागो मत नहीं तो हिमालय की गुफा में बैठ के तुम दुकान की ही बात सोचोगे और बहुत बहुत बार ये मन में विचार उठेगा कहीं भूल तो नहीं करती पता नहीं सुख वही हो और हजार तर्क सिर उठाएंगे हजार तर्क कहेंगे कि मैं यहां अकेला बैठा हिमालय पे वहां अरबों लोग जी रहे हैं अरबों लोग गलत हैं और मैं सही हूं ये प्रश्न नहीं उठेगा इतने लोग गलत हैं और केवल मैं सही हूं ये कैसे हो सकता है सिर्फ गुफा में बैठे बैठे सिर्फ गुफा में बैठने से कोई आनंद तो मिल नहीं जाता गुफाएं सब गंदी हैं हवा तक आने की सुविधा नहीं है आनंद वानंद की तो बात छोड़ो शुद्ध हवा भी नहीं आती वहां बैठे बैठे कहां का आनंद कहां का परमात्मा थोड़े दिन में ये मन में उठने लगेगा अपने घर में थे कम से कम शुद्ध हवा तो मिलती थी अपने घर में थे कभी कभी उत्सव के क्षण भी आते थे बेटी की कभी शादी हुई थी तब मन प्रफुल्लित हुआ था लाटरी जीत गए थे क्षण भर ही टिका था मगर आया था क्षण भर को क्षण भर को उल्लसित हुए थे यहाँ न लाटरी खुलती न बेटे की शादी होती न बैंड बाजे बजते यहाँ बैठे हैं खाली कितनी देर खाली बैठे रहोगे खाली तो बैठ नहीं सकते एक क्षण तो मन में सारा संसार चलेगा बाहर से संसार छोड़ के आ गए मन में सारा संसार चलेगा खूब जोर से चलेगा अंधड़ उठेंगे सब वासनाएं दबी हुई पड़ी टक्कर मारेंगी और मन में बार बार संदेह उठेगा कि मृत्यु के बाद जो मोक्ष से पता नहीं हो या ना हो बुद्धिमानों ने कहा हाथ की आधी रोटी मत छोड़ना कल्पना की पूरी रोटी के लिए और मैं ये आधी रोटी भी छोड़ के आ गया कल्पना की पूरी रोटी के लिए अब यहां बीमार हो जाता हूं तो कोई देखभाल करने वाला नहीं गांव रोज जाना पड़ता है भीख मांगने अपने घर में था तो कम से कम भीख तो नहीं मांगनी पड़ती थी जहां जाओ वहीं लोग कह देते हैं आगे बढ़ो ऐसा अपमान सहना पड़ता है दो दो कौड़ी के लिए मोहताज हो गया हूं तुम जरा अपने साधु संन्यासियों की मोहताजी तो देखो और जो मोहताज है वो गुलाम हो जाता है तुम अपने साधु सन्यासियों की गुलामी तो देखो रोज ऐसे अनुभव मुझे होते जैन साधु साध्वियां मुझे मिलने आना चाहते लेकिन खबर भेजते हम आ नहीं सकते क्योंकि श्रावक आज्ञा नहीं देते श्रावक आज्ञा नहीं देते ये श्रावक कौन साधारणता तो माना जाता है कि साधु महाराज नेता हैं और श्रावक अनुयायी है श्रावक पैर छूते साधु महाराज के सेवा को जाते कहा जा रहे साधु की सेवा को जा रहे चरण दबाते सिर रखते चरणों पर और ये श्रावक उनको आने नहीं देते ये तो बड़ा मजा हुआ कौन मालिक है कौन गुलाम है तय कैसे हो ये श्रावक कहते हैं जाना हो तो चले जाना लेकिन फिर याद रखना क्योंकि रोटी रोजी छप्पर तो श्रावक देता है फिर याद रखना शोभा यात्रा न निकालेंगे दोबारा फिर आना गांव में कोई स्वागत करने गांव के बाहर ना आएगा ऐसा हुआ मैं हैदराबाद में था एक जैन मुनि को मेरी बात जच गई युवा थे अभी हिम्मत थी तो उन्होंने छोड़ दिया मुनिवेश उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं मेरे मन में सारी वासनाएं तो चली रही कुछ भी गया नहीं तो क्या सार है शायद आप ठीक कहते हैं कि मैं कच्चा छोड़ के आ गया अभी उम्र भी ज्यादा नहीं थी कोई तीस साल उम्र थी दस साल हो गए थे उनको मुनि हुए हिम्मतवर थे अभी जवान थे हिम्मत की कि ठीक है मेरा मन तो अभी यहां लगता नहीं यहां मुझे कुछ मिलता भी नहीं दस साल देख लिया और जो संसार है वो मुझे अभी खींच रहा है तो शायद आप ठीक कहते हैं मैं कच्चा टूट गया मैं पकूंगा फिर जब स्वभाव आएगा सौभाग्य का क्षण आएगा सहज संन्यास फलित होगा तो ठीक यह आदमी ईमानदार था प्रमाणिक था लेकिन जैन समाज तो बहुत नाराज हो गए इस आदमी के पैर छूते थे वो इस आदमी को मारने को तैयार हो गए कहते हैं अहिंसक है मगर कहा कौन अहिंसक है पानी छान के पीते हैं खून बिना छाने पी जाते वो तो मारने को क्योंकि उनको तो ये भारी सदमा हो गया उनका मुनि और छोड़ के चला गया मैं एक सभा में बोलने गया था जनों की सभा थी वो मुनि भी मेरे साथ आ गए अब तो वो मुनि नहीं थे तो एक आदमी ने उनको नमस्कार नहीं किया ये तो बात चलो ठीक है लेकिन वो मंच पे मेरे साथ बैठ गए तो मेरे पास चिट्ठियां आने लगी कि इनको मंच से नीचे उतारी मैंने उनसे कभी मैं मुनि तुम्हारा नहीं हूं मैं मंच पे बैठा तो ये तो बेचारे कभी तो मुनि थे भूतपूर्व सही भूतपूर्व मंत्री भी आता है तो भी आदमी इज्जत करता है ये भूतपूर्व मुनि है तुम्हारे ही मुनि है मगर उन्होंने कहा कि जब तक ये नीचे ना उतरेंगे सभा आगे ना बढ़ेगी बड़ा शोरगुल मचाने लगे लोग उठ के खड़े मुझे ये लगा कि उनको खींच के उतार लेंगे मंच घेर लिया मैंने उन मुनि महाराज से कहा कि अब तुमने मुनि व्रत भी छोड़ दिया अब तुम ये मंच का भी थोड़ा मोह छोड़ो झंझट फिजूल की हो रही अब मुनि जब ना रहे तो मंच भी जाने दो मगर वो भी जिद्दी जिद्दी ना होते तो वो मुनि ही कैसे हुए होते वो भी छोड़ने को राजी नहीं क्योंकि वो भी प्रतिष्ठा का सवाल के मंच कैसे छोड़ दे और वो जनता भी अहिंसकों की मगर वो इस तरह खूनी आंख कि उनको मार डाले आखिर सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि मैं मंच से उतर के चला गया जब मैं उतर गया तो मुनि महाराज मेरे पीछे उतर गए वो सभा नहीं हो सकी और आज छुड़वा के रहे लोग वही लोग जो पैर छूते थे मंच पर न बैठने देंगे तो कौन किसका मालिक है तुम जिनको मुनि कहते हो जिनको त्यागी कहते हो साधु कहते हो वो तुम्हारे गुलाम है वो तुम पर निर्भर है तुम जैसा चलाते हो वैसे चलते तुम जहां बिठाते हो वैसे बैठते तुम जो करवाते हो वैसा करते कठपुतलियां हैं जब तुम साधु हो जाओगे जबरदस्ती के साधु तब तुमको पता चलेगा कि तुमने एक और बड़ी गुलामी ले ली पहले कम से कम गुलामी थी पत्नी थी बच्चे थे थोड़ा सा परिवार था अब ये पूरी भीड़ के तुम गुलाम हो गए स्वतंत्रता खो गई और जिसकी स्वतंत्रता खो जाए वो मोक्ष कैसे पाएगा स्वतंत्रता तक ना रही तो परम स्वतंत्रता तो कैसे मिलेगी परम स्वतंत्रता की तरफ जाना हो तो स्वतंत्रता को बढ़ना चाहिए तो ही पहुंच पाओगे तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम छोड़ के भाग जाओ मैं नहीं तुम्हें कोई विधि बताता कि कैसे आवागमन से मुक्ति हो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि कैसे तुम समझो कि आवागमन हो रहा है कैसे हो रहा है संसार कैसे बन रहा है तुम्हारा चित्त कैसे संसार को निर्मित करता है इसे पूरी तरह देख लो पहचान लो भर आंख उसी भरी आंख में छुटकारा है यहां से शहर को देखो तो हल्का दर हल्का खिंची है जेल की सूरत हर एक संत फसील हर एक रह गुजर गर्द से असीरा है न संग मील न मंजिल नमुख लिसी की सबील जो कोई तेज चल रहे तो पूछता है ख्याल कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं आई जो कोई हाथ हिलाए तो वहम को है सवाल कोई झनक कोई झंकार क्यों नहीं आई यहाँ से शहर को देखो तो सारी खलकत में न कोई साहब तमकी न कोई वाली ए होश हर एक मर्द जमा मुजरिम रसन बगुलू हर एक हसीना एरोना कनीज हल्का बगोस जो शायद दूर चिरागों के गिर्द लड़जा हैं न जाने महसले गम हैं कि बजमे जाम ओ सबू जो रंग हर दरो दीवार पर परीसा है यहाँ से कुछ नहीं खुलता ये फूल है कि लहू दूर से देख रहे हो बड़ी दूर से देख रहे हो पक्का नहीं होता कि वो जो दीवार पर दिखाई पड़ते लाल धब्बे हैं वो फूल है कि लहू और ये संसार एक कारागृह जैसा है यहां से शहर को देखो तो हल्का दर हल्का पैंच दर पैंच खिंची है जेल की सूरत हर एक संत फसील सब और दीवाले बनी हर तरफ दीवाले खड़ी हर तरफ काराग्रह जिसको तुम सांसारिक कहते हो वो काराग्रह में और जिसको तुम सन्यासी कहते रहे हो वो भी कारागृह में सबके काराग्रह अपने अपने काराग्रह खिंची है जेल की सूरत हर एक संत फसील हर एक रह गुजर गर्द से असीरा जेल खाने कभी गए तो वहां जेल में एक बीच में चक्कर होता जिनमें कैदियों को चलने की सुविधा होती जैसे कोल्हू का बैल चलता ऐसे वो गोल चक्कर में थोड़ी देर घूम सकते हर एक रह गुजर गर्द से असीरा है और यहाँ सब रास्ते संसार के बस जेल में जो चक्कर रास्ता होता है जिसपे कैदी थोड़ी देर घूम सकते हैं इस तरह की राहें हैं यहाँ न संग मील न मंजिल न मुखलसी की सबील न तो मुक्ति की कोई संभावना दिखती है न कोई मंजिल का आधार मंजिल तो दूर राह के किनारे पत्थर भी नहीं लगे हैं कि कितनी दूर आ गए मंजिल कितनी और दूर है कोई तेज चले रह तो पूछता है ख्याल कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं आई कैदी जब चलता है तो अगर जरा तेज चलने लगे तो मन में ख्याल उठने लगता है कि कोई टोकने ललकार क्यों नहीं आई क्योंकि पीछे ललकार सदा खड़ी सुप्रिंटेंडेंट खड़े हैं पुलिस वाले खड़े तेज नहीं चल सकते जो कोई तेज चले रह तो पूछता है ख्याल कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं आई जो कोई हाथ हिलाए तो वहम को है सवाल कोई छनक कोई झनकार क्यों नहीं आई अगर कोई हाथ हिलाए तो जेल खाने में तो एक ही आभूषण होता है जंजीरें जब कोई हाथ हिलाए तो जंजीरों में खनक होती जो कोई हाथ हिलाए तो वहम को है सवाल कोई झनक कोई झनकार क्यों नहीं आई यहां से शहर को देखो तो सारी खलकत में न कोई साहेब तमकी न कोई वाली होश यहां से अगर दुनिया को खड़े होकर देखो जरा ऊंचाई से तो न तो कोई दिखता है सहनशील न कोई संतुष्ट न कोई आनंदित न कोई होश वाला न कोई साहेब तमकी न कोई वाली ए होश हर एक मर्द जवा मुजरिम रसनवा गुलू सभी रस्सी में पुरे हुए फूल की तरह एक तो फूल होता है वृक्ष पर और एक फूल होता है गजरे में पिरोया हुआ धागा दिखाई भी नहीं पड़ता छुपा होता है लेकिन फूल गुलाम हो गया तुम्हारे धागे भी दिखाई नहीं पड़ते तुम्हारे हाथ की जंजीरें अदृश्य हैं लेकिन हैं और यह मत सोचना कि तुम्हारे ऊपर जंजीरें हैं तुम्हारे मुनि पर नहीं कारागृह में बसे हुए लोगों का जो मुनि होगा कैदियों का जो गुरु होगा वो भी कैदी ही होने वाला है बहुत कठिनाई है वो भी बच नहीं सकता जैन मुनि जैन कारागृह में बंद हिंदू सन्यासी हिंदू कारागृह में बंद मुसलमान फकीर मुसलमान कारागृह में बंद अलग अलग कारागृह इस जमीन पर इतने धर्म हैं इतने कारागृह हर एक हसीना एरोना कनीज हल्का व गोश और हर सुंदरतम स्त्री भी यहाँ गुलाम है दासी है जवान से जवान शक्तिशाली से शक्तिशाली पुरुष भी धागे में पिरोया हुआ फूल है और सुंदर से सुंदर स्त्री भी यहां दासी है जो शायद दूर चिरागों के गिर्द लड़ जाए और दूर चिराग है और उनके पास जो दिखाई पड़ रहा है न जाने फले गमे के बज में जाम हो सबू पता नहीं वहां बैठ के लोग रो रहे हैं दुखी हो रहे हैं कोई मर गया मातम मना रहे या शराब ढाली जा रही लोग मस्त हो रहे दूर से कुछ राज नहीं खुलता दूर से दिया जलता है पास बैठी हुई तस्वीरें मालूम पड़ती छायाएं मालूम पड़ती जो साये दूर चिरागों के गिर्द लर्जा हैं न जाने महफले गम है कि बज में जाम और सकू सबू जो रंग हर दरो दीवार पर परिसा है यहां से कुछ नहीं खुलता ये फूल है कि लहू दूर से कुछ राज नहीं खुलता मैं तुमसे कहूंगा पास आओ इसलिए कहता हूं संसार से भागो मत संसार के पास आओ संसार को आंख गड़ा के देखो संसार को पहचानो उसी पहचान में छुटकारा है उसी पहचान में मुक्ति ज्ञान मुक्ति ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं कौन सी चीज तुम्हें बांधे क्यों बांधे उसे पास से देखो गौर से देखो छूटने की जल्दी ना करो छूटने की जल्दी में देख ही ना पाओगे भागने की उत्सुकता मत रखो क्योंकि भगोड़ा कैसे समझ पाएगा और शत्रुता पहले से ही तय मत कर लो नहीं तो पक्षपात पहले से ही तय कर लिया तो दुश्मन को कोई भरास थोड़ी देखता है इसलिए चाहता हूं कि तुम शास्त्रों से मुक्त हो जाओ शब्दों से मुक्त हो जाओ सिद्धांतों से मुक्त हो जाओ समझो कि तुम पहले आदमी हो जमीन पर तुम्हें कुछ पता नहीं कि पहले लोगों ने क्या कहा है चीन में एक सम्राट हुआ अद्भुत सम्राट था सी हुआंग उसका नाम था उसी ने चीन की बड़ी दीवार बनाई और उसी ने एक और बड़ा काम किया इससे भी बड़ा काम किया उसने बड़ा काम यह किया कि सारे पुराने शास्त्र पुरानी किताबों को चलवा दिया घर घर खोज करवा के और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की उन्हीं को दीवाल पर काम पे लगा दिया उन्हीं ने दीवाल बनाई जिन्होंने बचाने की कोशिश की किताबें उनको कहा कि फिर दीवाल और चूंकि लोगों का मोह बहुत है अतीत से तो लाखों लोग मिल गए फंस गए उस जाल में दोनों काम एक साथ करवा लिए ये दीवाल बनवा ली क्योंकि जो भी इसमें फंस गया एक सीमा बना रखी थी उसने कि इतने दिन के भीतर सारी किताबें समाप्त हो जानी चाहिए क्यों हुआंग को ये ख्याल आया कि सारी किताबें समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि हुआंग ने देखा कि इन्हीं किताबों के कारण लोगों की आंखें देखने में समर्थ नहीं बड़ी हिम्मत का कदम था उसने चाहा कि आदमी अतीत से मुक्त हो जाए उसके पास कोई पक्षपात ना रहे आदमी के मन में कोई सिद्धांत धारणाएं ना रहे ताकि वो जिंदगी को जैसा है वैसे ही देख सके लेकिन फिर भी लोगों ने किताबें बचा ली लोगों ने छिपा ली कोई अपनी किताब आसानी से नहीं छोड़ता किताब में तुम्हारे प्राण है वही तुम्हारा ज्ञान है तुम में खुद तो ज्ञान है नहीं किताब में तुम्हारा ज्ञान है किताब को छोड़ के लगता है अज्ञानी हो गए अज्ञानी तुम हो ही किताब कैसे तुम्हें ज्ञान दे देगी किताबों से कहीं ज्ञान मिला है पाक सास से पेट तो नहीं भरता और जल कैसे बनता है इसका सूत्र H2O इसको तुम कागज में लिख के और घटक जाओ तो प्यास नहीं बुझती आग शब्द में कहा आग है परमात्मा शब्द में भी परमात्मा नहीं अनुभव में जीवंत अनुभव में तो हुआंग ने सारी किताबें हटवा दी और चाहा कि लोग फिर सरल हो जाएं, निर्दोष हो जाएं, आदिम हो जाएं। मैं तुमसे नहीं कहता कि किताबें जला दो क्योंकि जलाने से क्या होगा अगर मन में आग्रह बना रहा हुआंग सफल नहीं हुआ लोगों ने तो किताबें बचा ली और जिन्होंने नहीं बचाई उन्होंने भी जलाने के पहले कंठस्थ कर ली किताब छीन लोगे कंठस्थ कैसे छीनोगे याद कर ली रटवा दी फिर बच गई हुआंग तो मर गया फिर किताबें वापस लिख दी गई फिर किताबें अपने अपने तलघरों से निकल आई फिर प्रकट हो गई आदमी का अतीत के प्रति बड़ा मोह है और अतीत के मोह के कारण ही आदमी वर्तमान से वंचित होता है तुमसे किसने कहा कि संसार बुरा है मैं नहीं कहता कि भला है मैं नहीं कहता कि बुरा है मैं कहता हूं तुम जानो तुम पहचानो संसार परमात्मा ने दिया है होश संभालो कुछ प्रयोजन होगा इस देने में ठीक भर आंख देख लो क्या है संसार क्या है इसका राज उसी राज के जानने में तुम पाओगे कि हाथ से जंजीरें गिर गई तुम मुक्त हो गए ज्ञान मुक्ति है और सत्य मुक्ति दाता है शास्त्र नहीं तीसरा प्रश्न आप जब गांधी विनोबा अरविंद और विवेकानंद के विरोध में बोलते हैं तो मुझे रंज होता है वैसे ही जब कोई आपके विरोध में बोलता है तो भी मुझे रंज होता है विनती है कि जैसे आप बुद्ध और महावीर को समझाने में सहायक होते हैं वैसे ही श्री अरविंद को समझाने में सहायक हो पहली बात तुम्हें जिस बात में रंज ना हो वह मैं कहूं तो मुझे निरंतर झूठ ही झूठ बोलना पड़े फिर सच बोला नहीं जा सकता सच तो चोट करता है सच तो कड़वा है झूठ बड़े मीठे झूठ को मीठा होना ही पड़ता नहीं तो कौन गले उतारेगा झूठ के चारों तरफ शक्कर लगानी पड़ती जहर भरी गोली तुम्हें खिलाते हैं तो उसके ऊपर शक्कर लगा देते उस बीच शक्कर गोले गोले तब तक गले से उतर जाती अगर मैं ये ध्यान रखूं कि तुम्हें रंज ना हो तब तो कठिन हो जाए तब तो मैं तुम्हें कोई सहारा ना दे पाऊंगा तुम्हें बदल भी ना पाऊंगा तब तो मेरा बोलना व्यर्थ है समझाना व्यर्थ है ये तो ऐसे ही हुआ कि तुम डॉक्टर के पास जाके कहो कि जब आप मेरे घाव को धोते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती और जब आप मेरे घाव से मवाद निकालते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है इसलिए तो मैं आया नहीं था आपके पास कि आप मुझे पीड़ा दें मुझे सुख दें डॉक्टर वही कर रहा है मवाद निकल जाए घाव साफ हो जाए तो भर जाए भर जाए तो सुख हो तुम अभी सुख चाहते हो तो फिर किसी धोखेबाज डॉक्टर के पास जाना पड़े वो मवाद भी नहीं निकालेगा वो घाव धोएगा भी नहीं ऊपर सुंदर पट्टी बांध देगा और राम राम लिख देगा राम नाम की चदरिया उड़ा दी मजा करो आनंद से रहो आशीर्वाद दे देगा और तुम बड़े प्रसन्न घर लौट आओगे लेकिन वो जो मवाद भीतर पड़ी रह गई वो बढ़ेगी इस जगत में कोई चीज रुकती नहीं हर चीज बढ़ती बढ़ाओ इस जगत का नियम है गलत को काट के न फेंक दिया तो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे नासुर बनेगा और अगर तुम ऐसी ही तलाश में रहे कि ऐसे ही आदमियों के पास गए जो मलहम पट्टी बढ़ाते जाएं ऊपर ऊपर जो घाव को ढांकते जाएं तो नासूर एक दिन कैंसर बनेगा ऐसे ही तो लोग सड़ गए लोग लाशे तुम जो पूछ रहे हो इसी कारण से लोग मुर्दा हैं लोगों ने जीवन नहीं जाना जीवन जानने के लिए थोड़ी तो चोट खाने की हिम्मत करनी होती जीवन सीखने के लिए भी चोट खानी पड़ती छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो कितनी बार गिरता घुटने तोड़ लेता खून निकल आता चमड़ी छिल जाती सोच ले बच्चा की इसमें तो चोट लगती चलने में इससे तो अपने घुटने के बली सरकना बेहतर उसमें कभी चोट नहीं लगती तो फिर कोई बच्चा कभी चले नहीं फिर यहां जमीनों पर सरकते हुए लंगड़े लूले लोग हो धर्म की दुनिया में तुम ऐसे ही लंगड़े लूले हो क्योंकि वहां तुम चलने की हिम्मत नहीं कर पाते अब तुम जरा सोचते नहीं तुमने क्या पूछा है तुम्हारा अरविंद से मोह है यहां इतने लोग बैठे पांच सौ लोग यहां हैं इन पांच सौ के अलग अलग मोह हैं तुम चाहते हो मैं इन सबको प्रसन्न करता रहूं इनमें से कोई कम्युनिस्ट है उसका मार्क्स से मोह वो कहता मार्क्स के खिलाफ मत बोलना इनमें से कोई नास्तिक है उसको चार वाक से लगाव वो कहता चार वाक के खिलाफ मत बोलना इनमें से कोई बौद्ध है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है कोई यहूदी है इनमें से कोई फ्राइड को मानता है इनमें से कोई नीचे को मानता है यहां इतने तरह के लोग हैं अगर मैं इस बात की फिक्र करूं कि यहां किसी को रंज ना हो तो तुम सोचते हो एक भी शब्द बोल पाऊंगा मौन ही रहना पड़ेगा लेकिन कई ऐसे होंगे जिनको मौन से दुख होगा फिर क्या करना जो कहेंगे हमें मौन सरंज होता आप चुप क्यों हो गए बोलिए फिर मेरा क्या कसूर तुम्हारे लगाव तुम्हारे लगाव है तुम्हें अरविंद पसंद है यहां मत आओ तुम्हें मैं पसंद हूं तो कीमत चुकाओ मैंने तुमसे कहा नहीं कि तुम यहां आओ तुम्हें जहां सत्य के दर्शन होते हैं वहां जाओ लेकिन तुम हो बेईमान तुम सब नावों पर इकट्ठे सवार रहना चाहते हो मुल्ला नसुद्दीन जब मरने के करीब हुआ तो उसने पहले अल्लाह की बड़ी स्तुति की कि हे परमपिता हे अल्लाह हे करुणावान हे रहमान रहीम जब प्रार्थना पूरी कर दी तब दूसरी तरफ करबट बदली हो कहा कि हे प्रभु हे शैतान तू महान है तू करुणावान है उसकी पत्नी ने कहा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसने कहा कि सभी को राजी रखना ठीक है मरने के बाद किससे मिलना हो क्या पता भगवान को भी कह दी खुशी की दो बातें शैतान को भी कह देते कहा जाना होगा कौन मिलना होगा कौन के चक्कर में पड़ेंगे अभी से तो कुछ पक्का तो है नहीं दोनों नाव पर सवार रहना ठीक है ये कुशल होशियार आदमी का लक्षण अगर तुम मुझे समझे तो उसी समझने में अरविंद गलत हो जाएंगे अगर तुम मुझे समझे तो उसी समझने में गांधी विनोबा और विवेकानंद गलत हो जाएंगे मैं कहूं या न कहूं मेरे कहने न कहने की बात नहीं और तुम चाहते हो कि मैं जैसे बुद्ध और महावीर को समझाता हूं ऐसे ही गांधी विनोबा को समझाऊं गांधी विनोबा राजनीतिक महावीर और बुद्ध से इनका क्या लेना देना कुशल राजनीतिज्ञ तुम चाहते हो अरविंद और विवेकानंद को भी इस तरह समझाऊं अरविंद गांधी से थोड़े बेहतर हैं आधे राजनीतिक विवेकानंद और थोड़े बेहतर है एक चौथाई राजनीतिक विवेकानंद की राजनीति तुम्हें समझ में ना आएगी क्योंकि वो राजनीतिक धर्म की आड़ में वो हिंदुत्व का प्रचार है वो हिंदू अहंकार की प्रतिष्ठा है इसलिए हिंदुओं को प्रीतिकर लगते विवेकानंद क्योंकि हिंदू अहंकार की प्रतिष्ठा लेकिन विवेकानंद समाधिस्थ नहीं है न अरविंद न गांधी विनोबा है अगर बुद्ध और महावीर को मैं समझाता हूं तो बुद्ध और महावीर के कारण ही समाधि के कारण तो पतंजलि को भी समझाता हूं कबीर को भी समझाता हूं मीरा को भी समझाता हूं जीसस को भी समझाता हूं लाउस को भी समझाता हूं जिन जिन ने समाधि को उपलब्ध किया है किसी ढंग से किया हो उनकी समाधि के प्रति मेरे मन में बड़ा समादर है लेकिन जिन्होंने समाधि को उपलब्ध नहीं किया है उनको मैं नहीं समझा सकता तुम्हें उनकी बात अच्छी लगती हो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं क्योंकि मैं किसी को रोकना नहीं चाहता यहां तुम्हें उनकी बात अच्छी लगती हो तुम उनके मार्ग पर जाओ और तुम्हें मेरी बात ठीक लगती हो तो फिर ठीक ठीक चुनाव कर लो तुम कहते हो आप जब गांधी विनोबा अरविंद और विवेकानंद के विरोध में बोलते हैं तो मुझे रंज होता है तो कुछ ऐसा करो कि रंज ना हो तुम मुझे बदलना चाहते हो रंज तुम्हें होता है मुझे बिल्कुल रंज नहीं होता मुझे रंज होता तो मैं ऐसी बात बोलता ही नहीं रंज तुम्हें होता तो अपने भीतर तलाशो कि रंज का क्या कारण होगा तुम्हारे अहंकार ने संबंध बना लिए होंगे तुम्हारे अहंकार ने नाते रिश्ते बना लिए होंगे गांधी से तुम्हें क्या लेना देना है गॉडसे ने गांधी को गोली मार दी तुमने आत्महत्या नहीं कर ली तो तुम एकदम छलांग लगा के कुएं में नहीं गिर गए कि अब क्या जीना तुम्हें गांधी से क्या लेना देना है हाँ लेकिन तुमने कुछ लगाव बना लिए तुम्हारे लगाव से तुम्हें लगाव है तुम कहते हो गांधी के कुछ खिलाफ कहा गया तो तुम्हारे खिलाफ हो गया हो सकता तुम खादी पहनते हो कि चरखा चलाते हो या और तरह की कोई नासमझी करते हो या हो सकता है एक आध बार जेल गए हो स्वतंत्रता के आंदोलन में सम्मिलित हुए हो तुम्हारा अहंकार गांधी के नाम के साथ जोड़ा है तुम्हें डर लगता है अगर गांधी गलत है तो तुमने जो गांधी के साथ किया होगा या सोचा होगा कि कर रहे हो वो गलत हो गया तुम्हारी हिम्मत इतनी नहीं कि तुम उस बात को देख पाओ और तुम कहते हो आपके खिलाफ भी जब कोई बोलता है तो मुझे रंज होता है वो रंज भी वही है उसमें कुछ भेद नहीं हो सकता है तुम मानते हो कि तुम मेरे अनुयायी हो या मेरे शिष्य हो या मेरे साथ हो और फिर कोई मेरे खिलाफ बोलता है तो तुम्हें चोट लगती चोट ये नहीं लगती कि मेरे खिलाफ बोलता मुझसे तुम्हें क्या लेना देना चोट ये लगती है कि तुम जिसके पीछे चल रहा है तुम जैसा समझदार आदमी जिसके पीछे चल रहा है वो गलत कैसे हो सकता है वो गलत तो तुम गलत हो जाते हो इसलिए चोट लगती है इस बात को ठीक से पहचान लो ये सब अहंकार को लगी चोटे और अहंकार को जाने दो अन्यथा अहंकार पर तो चोट लगती ही रहेंगी अहंकार तो घाव है उसमें तो जरा सी चीज लग जाती तो पीड़ा होती ये सब अहंकार कोई कह देता गीता में क्या रखा है तुम एकदम गुस्से में आ जाते हो इसलिए नहीं कि तुम्हें कृष्ण से कुछ लेना देना है कि गीता में कुछ रखा है तुम्हें भी कुछ नहीं रखा है लेकिन गीता में क्या रखा तुम्हें चोट लग जाती तुम हिंदू गीता तुम्हारी किताब अगर गीता में कुछ नहीं रखा तो तुमने क्या रखा है यह घबराहट पैदा होती तो गीता को बचाना पड़ेगा गीता के पीछे तुम भी बच जाते हो तो इसी तरह तो लोग प्रकरांतर से अहंकार भरते भारत पुण्य भूमि क्योंकि आप यहां पैदा हुए बड़ी आपकी कृपा है हिंदू धर्म दुनिया का श्रेष्ठतम धर्म क्योंकि आप हिंदू आप मुसलमान होते तो तो इस्लाम होता दुनिया का श्रेष्ठतम धर्म वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब क्योंकि आप हिंदू हैं अगर जैन होते तो वेद दो कौड़ी का तो जैन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सबसे महान धर्म है जरा गौर से देखो तुम किस बात की घोषणा कर रहे हो हिंदू धर्म बड़ा भारतवर्ष बड़ा किस बात की घोषणा कर रहे हो ये बचकानी बातें जैसे छोटा बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी को दो मिनट में चारों खाने चित्त कर दे मेरे पिताजी झगड़ा हो जाता है इस पर मारपीट हो जाती है इस बार बच्चों में कि कौन के पिताजी किसको चित्त कर सकते एक बच्चा किसी से कह रहा था कि मेरी माँ कोई भी विषय दे दो घंटों बोल सकती दूसरा बोला ये कुछ भी नहीं मेरी माँ बिना विषय के घंटों बोल अकड़े आदमी सब तरफ से अपनी अकड़ को सहारा दे रहा है कोई मेरे खिलाफ बोल देता है तुम्हें चोट लगती चोट इसलिए नहीं लगती कि तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना चोट इससे लगती कि तुम मुझे सुनने आते अगर ये आदमी सही कह रहा है तो फिर अब तुम कैसे सुनने आओगे और सुनने आओगे तो तुम ना समझो गलत आदमी को सुनने जा रहे हैं तुम जैसा सही आदमी गलत आदमी को सुनने जा रहा है तो तुम्हें खुद सही रहने के लिए जिसको तुम सुनने जाते हो उसको भी सही रहना पड़ेगा इसलिए तुम विवाद करते हो समझो क्यों चोट लगती है और उस चोट के मूल कारण से अपने को मुक्त कर लो अहंकार से फिर कोई चोट ना लगेगी फिर मेरे खिलाफ कोई बोले तो भी तुम शांति से सुनोगे हो सकता है यह आदमी ठीक कह रहा हो इसको शांति से सुनना चाहिए समझना चाहिए अगर तुम्हारे मन में मेरा कोई भी मूल्य है तो जो मेरे खिलाफ बोलता है उसका भी तुम्हारे मन में मूल्य होगा चोट नहीं लगेगी तुम उससे और भी खोद खोद कर समझना चाहोगे कि बात पूरी समझ लेनी चाहिए क्योंकि जीवन का निर्णय इन बातों पर निर्भर है तुम उस आदमी के पीछे लग जाओगे तुम कहोगे और समझाओ सब बातें बताओ जो जो खिलाफत में ताकि मैं भी पुनः विचार कर सकूं हो सकता है तुम सही हो क्योंकि मैंने सही होने का कोई ठेका नहीं ले लिया है मैं ही सही हूं ये क्या जरूरी है तुम भी सही हो सकते हो तो मुझे सारी बातें कहो खोल के कहो ब्यौरे से कहो एक एक बात का तर्क स्पष्ट करो मैं तुम्हारी बात हृदय पूर्वक सुनूंगा ताकि मैं पुनः निर्णय ले सकू और अगर तुमने मेरी बात समझी है तो विरोधी की बात को सुन के मेरी बात के संबंध में तुम्हारी समझ और गहरी होगी कम नहीं होगी क्यों कम होगी या तो विरोधी सही कह रहा है तो तुम मुझे छोड़ दोगे तब भी अच्छा हुआ तुम्हें जो सही लगा उसके साथ गए या तो विरोधी गलत ही कह रहा है तो उसकी सारी बातें सुन के मेरी बातें तुम्हें और सही लगने लगेंगी जितनी सही कभी भी ना लगी थी लेकिन इसकी तुम्हें फिक्र नहीं तुम कहते हो कि मुझे रंज होता है इसलिए बिनती है कि जैसे आप बुद्ध और महावीर को समझाने में सहायक होते हैं वैसे श्री अरविंद को समझाने में सहायक हो एक बात मैं बुद्ध और महावीर को समझाने में सहायक नहीं हो रहा हूं मैं अपने को समझा रहा हूं बुद्ध और महावीर उसमें सहायक होते हैं तुम ठीक से समझ लेना मैं कोई मीरा को समझाने में सहायक नहीं हो रहा हूं मेरा क्या लेना देना मैं अपने को समझा रहा हूं उसमें मीरा सहायक होती इसलिए मीरा का उपयोग कर लेता अरविंद उसमें सहायक नहीं हो सकते इसलिए उनका उपयोग नहीं कर सकता तुमने बात ही गलत समझ ली तुम समझे कि मैं इन लोगों को समझा रहा हूं इनने मुझे नहीं समझाया मैं इनको क्यों समझाऊं बुद्ध मेरे संबंध में चुप रहे मैं क्यों बोलू नहीं इससे कुछ लेना देना नहीं मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं वही कह रहा हूं अगर बुद्ध की वाणी उस पर थोड़ी रोशनी डाल देती तो मैं बुद्ध की वाणी का उपयोग कर लेता महावीर की वाणी उस पर थोड़ी रोशनी डाल देती उनका उपयोग कर लेता लेकिन जो मुझे कहना है मैं वही कह रहा हूं जिस जिस से मेरी बात के लिए गवाही मिलती उनके मैं उपयोग कर लेता हूं लेकिन वो गवाह हैं ऐसा नहीं कि मैं उन्हें समझा रहा हूं यही तो फर्क है पंडित बुद्ध को समझाता है पुरोहित महावीर को समझाता है मुनि त्यागी तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारे महापुरुषों को समझाते मैं नहीं समझा रहा हूं किसी को मैं तो सीधा मुझे जो दिखाई पड़ा है मैंने जो जाना उसी को समझा रहा हूं अब उस समझाने में जहां जहां से सहायता मिल सकती ताकि तुम्हारे मन में बात पूरी तरह अनेक अनेक द्वारों से बैठ जाए उन सबका उपयोग की ले रहा हूं लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो मेरा है इसलिए ये तो भूल के भी मत मेरे पास लोग आ जाते हैं कई लोग आ जाते हैं कोई लेके आ जाता है स्वामी नारायण संप्रदाय की किताबें कि आप हमारे महाराज को समझाएंगे तुम पागल हो गए हो मेरा तुम्हारे महाराज से लेना देना क्या है तुम मत झंझट में डलवाओ अपने स्वामी नारायण को तुम ले जाओ किताबें कोई किसी और को लेके आ जाता है कि ये हमारे स्वामी इनको समझाइए मैं उनसे कहता हूं कि तुम खतरा मत लो क्योंकि कौन जाने अगर मुझसे मेल न बैठा तो फिर मुझसे मत कहना ऐसे ही तो गांधीवादियों ने गांधी को झंझट में डलवाया ऐसे ही अरविंद को अरविंद के मानने वालों ने झंझट में डलवाया मैं बोला ही नहीं था मैं बोलने जाने वाला था उन पर बस आ गए कि अरविंद को समझाई मैंने उनको कई दफे समझाया भी कि तुम अरविंद को क्षमा करो मगर वो पीछे ही पड़े रहे पीछे पड़े रहे तो फिर मुझे कुछ कहना पड़ा फिर मैं वही कहूंगा जो मुझे दिखाई पड़ता है उससे अन्यथा मैं एक शब्द नहीं कह सकता उससे इंच भर भिन्न नहीं कह सकता उससे तुम्हें चोट लगे तो ठीक उससे तुम्हें आनंद हो तो ठीक वो तुम्हारा निर्णय है लेकिन मैं तुम्हारे रंज सुख दुख को देख के नहीं बोल सकता अन्यथा फिर मुझे झूठ बोलना पड़े तुम झूठ हो और झूठों में तुम्हारा सुख है चौथा प्रश्न आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का मैंने भी कभी किसी को प्रेम किया था लेकिन उसे पाने में असफल रहा अब तो तीस वर्ष बीत चुके लेकिन फिर किसी और को प्रेम ना कर पाया भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा पहली तो बात जिससे मैं प्रेम कहता हूं और जिससे तुम प्रेम कहते हो वे दोनों एक ही चीजें नहीं तुम गलत चीज को प्रेम कह रहे हो तुम कह रहे हो तीस साल पहले मैंने किसी से कभी प्रेम किया था उसे पाने में असफल रहा अब प्रेम का पाने से क्या संबंध मोह का पाने से संबंध है मोह न पाए तो तरफता है प्रेम तो कर लिया और भर गया पाने की क्या बात है समझो एक फूल खिला गुलाब का तुम पास से निकले तुम्हारी नजर पड़ी तुम आह्लादित हुए तुम्हारा प्रेम गुलाब के फूल पर बरसा तुम अपनी राह चले गए बात आई गई समाप्त हो गई गुलाब जो तुम्हें दे सकता था उसने तुम्हें दे दिया तुम जो गुलाब को दे सकते थे तुमने दे दिया नहीं लेकिन तुम कहते हो हमें झपट्टा मार के गुलाब का फूल तोड़ना जब तक हम उसको अपने बटन के काज में न लगाए तब तक हम तड़फेंगे तीस साल हो गए तड़फते कि उस गुलाब के फूल को हम अपने बटन के काज में न लगा पाए गुलाब का फूल जैसा ही तुमने कब्जा किया वैसे ही मर गया प्रेम कब्जा नहीं मांगता और शायद कब्जा मांगने के कारण ही तुम चूके तुमने शायद कब्जा करना चाहा होगा अभी भी तीस साल हो गए मगर तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं अभी भी तुम कह रहे हो भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा अगर मेरा बस चले तो कभी नहीं होने देंगे तुम खतरनाक हो तुम किसी की गर्दन पर सवार होना चाहते हो तुम मालिक होना चाहते हो प्रेम तो दान है प्रेम में कोई किसी को रोक ही नहीं सकता जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी नहीं रोक सकता तुम्हें प्रेम में कैसे रोक सकता है प्रेम तो तुम्हारा दान है और प्रेम कभी असफल नहीं होता हो ही नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम तुम करोगे तो वो तुम्हें मिल ही जाएगा उसको मैं सफलता नहीं कहता प्रेम के तो करने में ही सफलता है बात ही खत्म हो गई और कोई लक्ष्य नहीं है प्रेम में लेकिन तुम चाहते हो गए ये स्त्री मेरी पत्नी बने तुम सोचते ये प्रेम है तुम कब्जा करना चाहते थे तुम स्त्री के हाथ में जंजीरें डालना चाहते थे तुम इस स्त्री को अपने आंगन में कैद करना चाहते तुम इस स्त्री को मेरी ही हो और किसी की ना हो इस तरह की सील मोहर लगाना चाहते थे तुम स्वामी बनना चाहते थे तुम इस स्त्री को संपत्ति बनाना चाहते थे तुम चाहते थे कि फिर तुम इस स्त्री को लेकर गांव बस्ती में घूमो और लोगों को दिखाओ कि देखो ये सुंदर स्त्री मेरी और कोई इसकी तरफ आंख उठा के ना देखे अन्यथा मुझसे बुरा कोई भी नहीं हिंसा का भाव था तुम्हारा प्रेम का नहीं प्रेम का क्या लेना देना है प्रेम तो तुम्हारे भीतर उठी आनंद की उर्मी किसी के चेहरे को देख के उठी बात पूरी हो गई किसी की आंखों को देख के उठी बात पूरी हो गई किसी फूल को खिला देख के उठी बात पूरी हो गई तुम मालिक क्यों होना चाहो तुम प्रेम और लोभ में भेद नहीं समझ पा रहे हो तुम प्रेम और मोह में भेद नहीं समझ पा रहे हो तुमने लोभ और मोह को प्रेम समझा है और ऐसा प्रेम तो असफल होगा ही तुम्हें स्त्री नहीं मिली इसलिए नहीं मिल जाती तो भी असफल होता नहीं मिली इसलिए तीस साल तक सरकता भी रहा मिल गई होती तो तीन दिन न चलता अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिसको तुम पाना चाहते थे और नहीं पा सके तो तुम्हारा अहंकार तरफता रहता है क्योंकि तुम्हें चोट लगी तुम नहीं पा सके तुम हार गए तुम अपनी विजय करके दिखाना चाहते थे और विजय नहीं हो पाई वो घाव तुम्हें में तरफता ये अहंकार ही है ये प्रेम नहीं है पूछते हो आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का मैं कहता नहीं ऐसा है प्रेम है द्वार परमात्मा का और प्रेम के अतिरिक्त उसका कोई और द्वार नहीं लेकिन मेरे प्रेम की परिभाषा समझो प्रेम है दान प्रेम है विसर्जन प्रेम है समर्पण लेकिन तुम तो परमात्मा को भी अगर प्रेम करोगे तो उसको भी कब्जा कर लेना चाहोगे मौका मिल जाए तो उसके गले में रस्सी डाल के तुम अपने अस्तबल में बांधोगे कि चलो अब मेरे अस्तबल में रहो मैंने तुम्हें पा लिया तुम तो परमात्मा को भी पालोगे तो उसको भी कैदी बना लोगे तुम्हारे मन में बड़ी गहन हिंसा है तुम उस पर भी मुट्ठी बांध लोगे अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम फिर परमात्मा को किसी और को ना मिलने दोगे फिर तुम पूरी चेष्टा करोगे कि अब देखना किसी और पर कृपा मत कर देना अब तुम्हारी सारी अनुकंपा मेरी तरफ हो मैं तुम्हारा भक्त तुम मेरे भगवान अब इधर उधर मत जाना अब और दूसरे चिल्लाते हैं चिल्लाने दो न मैं तुम्हें धोखा दूंगा न तुम मुझे धोखा देना न मैं किसी और को भगवान बनाऊंगा न तुम किसी और को भक्त बनाना तुम्हारा ये जो रुग्ण चित्त है ये सभी चीजों को रुग्ण कर देता है जापान में एक कहानी एक बौद्ध साध्वी थी उसके पास बड़े प्यारे बुद्ध की प्रतिमा थी इस फटिक की बनी थी और वो रोज बुद्ध की प्रार्थना करती सुबह सांझ आरती उतारती दिया जलाती उदबत्ती लगाती साध्वी थी तो अक्सर मंदिरों में ठहरती यात्रा पर जाती एक बार मंदिर में ठहरी हजार बुद्धों का मंदिर जहां हजार प्रतिमाएं हैं बुद्ध की उसने सुबह अपने छोटे से बुद्ध को निकाला ये हजार इतनी बड़ी प्रतिमाएं पूजा के लिए काफी नहीं उसे अपनी थैली में जो बुद्ध है उनकी ही प्रार्थना कर ये उसी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं सारी बड़ी विराट प्रतिमाएं जिन्हें देखने हजारों मील से लोग आते लेकिन जब वो सुबह पूजा करने बैठी तो उसने झोली में से अपने बुद्ध निकाले अपने अपने बुद्ध सब संभाल के रखते ऐसे उधार बुद्ध हर किसी के बुद्ध और ऐरे गहरे नत्थु खेरे जिनकी प्रार्थना करते लोग अपने अपने विशिष्ट बुद्ध रखते अपनी थैली में रखते संभाल के रखते अपने बुद्ध को निकाला बिठाया आसन पे छोटा सा आसन भी रखती थी तब उसे एक सवाल उठा कि आज अगर मैंने उदबत्ती लगाई तो उदबत्ती के धुएं पे किसका क्या बस धुआं तो धुआं धुआं कोई आदमी तो नहीं आदमी जैसी बुद्धि भी धुएं के पास नहीं धुआं तो उड़ेगा और ये जो हजार बुद्धों की प्रतिमा है न मालूम किसके नासापोटों में समा जाए धुआं तो धुआं है धुएं का क्या भरोसा तो उसने छोटी सी पोंगरी बनाई बांस की पोंगरी उदबत्ती लगाई और बांस की पोंगरी में से धुआं को अपने बुद्ध तक पहुंचाए उसने जो किया सो ठीक मगर ये हुआ कि बुद्ध का चेहरा काला हो गया वो बड़ी दुखी हुई ये प्यारी प्यारी प्रतिमा खराब हो गई मंदिर का बड़ा पुजारी ये सब खड़ा देखता था वो एक पहुंचा हुआ फकीर था उसने कहा कि तेरी बात में समझ पाया ये तेरा देख रहा हूं खेल मगर देख तेरे साथ बुद्धि की क्या गति होगी तू तो मुक्त न हुई बुद्ध को पाके बुद्ध तेरे कैदी हो गए तू तो बुद्ध को पाके सुंदर न हुई बुद्ध कुरूप हो गए जरा देख बुद्ध को क्या हुआ तूने चेहरा काला कर दिया ऐसी भी क्या बात ऐसा भी क्या लोभ मोह ऐसा भी क्या बंधन मगर यही है हालत अपने अपने भगवान है अपने अपने मंदिर है तुमने प्रेम को समझा ही नहीं प्रेम विस्तीर्ण है प्रेम कोई सीमा नहीं मांगता और न कोई सीमा जानता है प्रेम कुछ मांगता नहीं उत्तर में प्रेम कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहता प्रेम तो इसी से धन्यभागी अनुभव करता है कि मैं प्रेम को कर पाया अब तुम चांद को प्रेम करते हो तो तुम चांद को कोई अपने घर बांध नहीं रखना चाहते छोटे बच्चे अक्सर हाथ बढ़ाते हैं चांद को पकड़ने के लिए छोटे बच्चे अक्सर परेशानी खड़ी कर देते तुमने कृष्ण और यशोदा की कहानी भी पढ़ी होगी कि कृष्ण मचल गए कि चांद को चाहिए अब यशोदा परेशान है कि क्या करे क्या ना करे एक साधु गुजरता है और वो साधु ये सब देखता वो कहता है काम कर कांसे की थाली में पानी भर के रख चांद उसमें दिखाई पड़ेगा वही चांद कृष्ण को दे दे उसने कांसे की थाली में पानी भरा चांद का प्रतिबिंब पड़ा ये छोटा सा बाल कृष्ण खूब आह्लादित हो गया थाली लेके घूमने लगा जहां ले जाए चांद तो वही चांद की छाया पड़ रही बहुत खुश है प्रसन्न हो गया तृप्त हो गया ध्यान रखना अगर तुमने प्रेम पात्र पर मालकियत करना चाहिए तो प्रतिबिंब पर ही मालकियत होगी ये इस कहानी का राज है असली पर नहीं हो सकती असली चुक जाएगा नकली तो हो जाएगी मालकियत नकली पर ही मालकियत हो सकती है नकली ही मुट्ठी में आता है असली मुट्ठी में नहीं आता अगर असली चाहिए हो तो मुट्ठी खुली रखना बांधना मत नकली चाहिए हो तो मुट्ठी बांध लेना असली के लिए खुला हाथ चाहिए खुला हृदय चाहिए नकली के लिए बांध सकते हो प्रतिबिंब पकड़ में आ सकते हैं मूल पकड़ में नहीं आता और हम सारे जीवन यही उपद्रव में लगे कि किसी तरह प्रेम पकड़ में आ जाए बांध ले रेखा खींच दें उसके चारों तरफ कब्जे में कर ले ये कब्जे की आकांक्षा रुग्ण है पूछते हो आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का मैंने भी कभी किसी से प्रेम किया था लेकिन उसे पाने में असफल रहा पाने की आकांक्षा थी इसी में असफलता है अगर सिर्फ प्रेम किया होता तो सफलता ही सफलता थी पाना क्यों चाहो मालकियत क्यों मालिक तो सिर्फ एक परमात्मा है तुम क्यों मालिक बनना चाहो सुंदर फूल उसके सुंदर पहाड़ उसके सुंदर चेहरे उसके सुंदर देहें उसकी सुंदर नदियां उसकी सुंदर चांद उसके सारा सौंदर्य उसका है तुम कब्जा क्यों करना चाहो और तीस साल बीत गए अभी भी तुम्हारी कब्जे की आकांक्षा है लेकिन मैं फिर किसी और प्रेम को प्रेम ना कर पाया तुम सोचते हो तुमने बड़ा भारी काम किया कोई शहीद हो गए सोच रहे हो कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले क्या विचार कर रहे हो ये भी कोई प्रेम हुआ जो एक पर चुक गया बूंद बूंद रहा होगा एक आधी बूंद रहा होगा कि टपका की खत्म फिर झरने सूख गए इतना विराट संसार प्रभु इतने रूपों में प्रकट और तुम एक रूप में ही ऐसे भटक गए कि फिर तुम किसी और को प्रेम ना कर पाए तुम सोचते होगे कि ये बड़ा मैंने प्रेम किया कि देखो वह तो नहीं मिली लेकिन मैं अब भी उसी का हूं फिर किसी को प्रेम नहीं किया तुम अपने को नाहक सता रहे हो तुम अपने को नाहक कष्ट दे रहे हो यह भी अहंकार है उस प्रेम में भी अहंकार था कि पाके रहूंगा फिर पा नहीं सके तो विषाद ने घेर लिया अब तुम ये कहते हो तो दिखा के रहूंगा कि मैं वफादार हूं किसको दिखा रहे हो तुम्हारा जीवन चुकता हुआ जा रहा अगर परमात्मा एक द्वार से नहीं मिला दूसरे द्वार से खोजते एक मेरे मित्र उनकी पत्नी मर गई जब पत्नी जिंदा थी तब भी मैं उन्हें जानता था कभी उनमें बनी नहीं किस में बनती पति पत्नी में बन जाए ये चमत्कार ऐसा होता नहीं कभी हो जाए तो अपवाद और अपवाद से सिर्फ नियम सिद्ध होता है और कुछ सिद्ध नहीं होता उन्हें जानता था जब भी मेरे पास आते थे उनकी पत्नी आती थी तो सदा रोना और झंझट यही थी दोनों की बनती नहीं थी फिर पत्नी मर गई पत्नी मर गई तो मैं मुझे खबर मिली कि वो तो एकदम विरागी हो गए पत्नी क्या मर गई उनका प्रेम एकदम से पत्नी के प्रति हो गए उन्होंने सब तरफ दीवानों व फोटो में लगा ली पत्नी की दुकान इत्यादि जाने बंद कर दिया पैसे वाले हैं सुविधा है चाहे तो इस तरह की शहीदगी का मजा ले सकते कोई अड़चन नहीं है वो तो बैठ ही गए वो जा ही नहीं वहां से अपने कमरे में बैठे धूनी रमा है उनकी बहन ने मुझे आके कहा कि मेरे भाई को क्या हो गया अब आप कुछ फिक्र करें तो मरे उनकी पत्नी को तीन महीने हो गए तो वो वहीं बैठे धूनी रमा है गजब का प्रेम उनकी बहन ने कहा ऐसा प्रेम सतयुग में होता था कलयुग में कहा मैंने उनसे कहा कि प्रेम प्रेम कुछ नहीं मैं आता हूं तो उनके घर गया मैंने कहा ये क्या कर रहे किसकी तस्वीरें लटकाए हो और मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारी कभी बनी नहीं अब अपराध भाव से पीड़ित हो या क्या मामला है कि इसको कभी सुख नहीं दिया इसको सदा सताया तो अब कुछ क्षतिपूर्ति कर रहे हो जिंदा थी तो तुमने जरूर कई बार सोचा होगा कि ये मर जाए कौन पति नहीं सोचता सरका देता है विचार को कि नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं और उस दिन जिस दिन ये विचार आता है कुल्फी खरीद लाता है बाजार से साड़ी ले आता है ठीक नहीं ये विचार आ गया अब इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है ना स्त्रियां जानती हैं जिस दिन पति साड़ी ले आए बिना कहे उसका मतलब है कुछ गड़बड़ है मिठाई ले आए उसका मतलब कुछ गड़बड़ है न दिवाली न होली और ये मिठाई लिए चले आ रहे हैं तो जरूर कोई अपराध किया है फिर स्त्री खोजबीन में लग जाती फुरजे वगैरह तलाशती डायरी वगैरह देती कहीं फोन नंबर मिल जाए कोई नाम का पता चल जाए कुछ कुछ ना कुछ है मामला तो मैंने कहा कि तुमने जरूर कई दफे सोचा होगा कि ये मर जाए वो थोड़े चौंके उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला पता की बात ही क्या ये फोटो क्यों लगाई ये यहाँ बैठ के क्या धुनी रमाए हुए किसको दिखा रहे हो इससे सार क्या है मैंने कहा मुझसे तो कहो सच अभी यहाँ कोई भी नहीं उनकी आंख में आंसू आ गए आपने मुझे पकड़ लिया मामला यही मैंने कई बार सोचा कि मर जाए इतना ही नहीं कई दफे मैंने सोचा कि मार डालू क्योंकि दुख ही दुख है और फिर वो मर गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही भावनाओं ने उसे मार डाला मगर आप किसी और को मत कह देना लोग तो यही समझ रहे हैं कि मैं उसके प्रेम में दीवाना हूं अब कभी विवाह न करूंगा मैंने उनसे कहा कि अगर इस स्त्री को तुमने प्रेम किया था और इस स्त्री के प्रेम से तुमने आनंद पाया था तो तुम निश्चित विवाह करोगे क्योंकि प्रेम ने तुम्हें आनंद दिया आनंद तुम क्यों ना चाहोगे अक्सर जो लोग एक विवाह के बाद विवाह नहीं करते वे वे लोग हैं जिनको इतना स्त्री कष्ट दे गई कि वो सब स्त्रियों से मुक्त कर गई सदा के लिए मुक्त कर गई अब झंझट में वो नहीं पढ़ सकते एक को क्या जाना सबको जान लिया हालांकि ऐसा वो कहेंगे नहीं मगर मनोवैज्ञानिक सत्य बड़े उल्टे हैं आदमी जो ऊपर करता है वह एक बात भीतर जो होती है बिल्कुल दूसरी बात अब तुम कहते हो तीस साल बीत चुके मैं किसी को प्रेम ना कर पाया तुम्हारे अहंकार को जो चोट लगी उस चोट के कारण तुम अब एक नया अहंकार खड़ा कर रहे हो कि मैं कोई ऐसा वैसा प्रेमी नहीं हूं मैं दिखा के रहूंगा कि किया तो एक को किया फिर कभी नहीं किया बस एक पे कुर्बान हो गया अपनी जिंदगी आहुति चढ़ा दूंगा ये रुग्ण चित्त दशा है ये दुखवादी दशा है जिसको मनोवैज्ञानिक मैसोचिज्म कहते हैं ये अपने को सताने की वृत्ति है तुम पुराने ढंग के सन्यासी हो सकते हो बड़ी आसानी से तुम चाहो तो कांटों वगैरह की सेज बना के लेट सकते हो धूप में खड़े हो सकते हो उपवास कर सकते हो बड़ी आसानी से तुम्हें तो बिल्कुल जम जाएंगे ये बात प्रेम तो जीवन की भाव भंगीमा है प्रेम जीवन है प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं कि एक पे चुप गया प्रेम तो श्वास है आत्मा की तुम रोक कैसे सकोगे जैसे शरीर के लिए श्वास की जरूरत है ऐसी आत्मा के जीवन के लिए प्रेम की जरूरत है प्रेम तो सतत हो रहा है कभी वृक्ष से कभी चांद से कभी तारों से कभी लोगों से कभी कविताओं से कभी संगीत से कभी चित्रों से कभी मूर्तियों से प्रेम तो प्रतिपल हो रहा है प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि तुम एक तरफ कर लिए कि बस खत्म हुआ अब तुम मेरे पास हो तो मुझसे तुम्हारा प्रेम हो रहा है नहीं तो यहां किस लिए हो यह भी प्रेम है अगर मेरी वाणी तुम्हें प्रीतिकर लग रही तो यह भी प्रेम है प्रेम के अनंत रूप है कोई एक स्त्री पे थोड़ी चुक जाता है कोई किसी एक पुरुष पे थोड़ी चुक जाता है तुम्हारा कोई मित्र भी होगा वो भी प्रेम है प्रेम के बहुत बहुत भाव बहुत भंगिमाएं और सभी भंगिमाओं में प्रेम को प्रकट होना चाहिए और प्रेम की अंतिम भंगिमा परमात्मा है जब तुम्हारा प्रेम सब तरफ बहने लगता है निर्बाध बहने लगता है बेसरत बहने लगता है जब तुम्हारे प्रेम में कोई मांग नहीं रह जाती सिर्फ दान रह जाता तो प्रेम प्रार्थना हो जाती इसलिए मैं कहता हूं प्रेम परमात्मा का द्वार है मगर तुम पूछते हो भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा महाराज बक्सो किसी तरह बेचारी बच गई तुम कुछ और काम करो तुम क्या अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे कल मैं एक कविता पढ़ रहा था तुम्हारे काम की होगी उनकी तस्वीर निगाहों में चमक उठी आंसुओं आस तो दम भर के लिए थम जाओ जाने ये कौन बरस कौन सदी है कि यहाँ मेरी नाकाम सदाओं के भटकते आसेब अपनी ही खोज में आवारा और दरमांदा है मुझको जाना था किधर और मैं आया हूं कहा अपने जख्मों को लिए कितने नगर घूमा हूं लेके सामान्य सफर दुखते हुए शानों पर हाथ पकड़े हुए वैसत जदा अरमानों का अजनबी वादियों दरियाओं में आ पहुंचा हूं हसरतों गम की तपिसरेज गुजर राहों पर मेरे रिश्ते हुए छालों के निशा मिलते हैं जीत दंभर को जहां बैठ के सुस्ताती थी अब वो पीपल के घने छाए कहा मिलते वक्त दम साथे हुए कांप रहा है कि अभी जिंदगी अपनी कमी गह से निकल आएगी और ठोकर उसे मारेगी कि चल आगे बढ़ इसके पहले कि मिले वक्त को हुक्म रफ्तार मेरा खोया हुआ चेहरा मुझे वापस दे दो अपने लब रख के मैं उन ओठों पर सो जाऊंगा जिनको चुमे हुए कितने ही बरस बीत गए रूह में सुर्खी लव घुल के उतर जाएगी सुबह अनफास की निकहत में बस जाएगी पांव उठेंगे उसे शहर की जानब की जहां कल्ब ने मेरे धड़क उठने का फन सीखा था दम बखुद वक्त मुझे देख के पूछेगा क्या तेरे शौक की वारफता मिजाजी है वही अपने उलझे हुए बालों की लटे बिखराए कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी अपने घर बार दरोबाम से उकताई हुई किस लिए आए हैं क्यों घर में घुसे आते जाइए जाइए ऑफिस से वो आते होंगे अजनबी शख्स को देखेंगे तो घबराएंगे जाने क्या सोचेंगे कुछ सोच के झुंझलाएंगे कौन वो कौन ये बच्चा ये थका सा चेहरा कौन मैं अपने ही पैकर का झिझकता साया वक्त एहसास से खिजालस से झुकाए हुए सर अपनी खामोश निगाहों से ये करता है सवाल क्या तेरे शौक की वारफता मिजाजी है वही ये कवि कह रहा है कि वर्षों बीत गए जिसको प्रेम किया था और जिसके प्रेम के कारण जीवन में उत्साह उठा था वो उत्साह खो गया अब वर्षों से तुम तो एक भूत की तरह उसी को खोजते भटक रहा हूं और इसके पहले कि समय मुझसे कहे कि उठ आगे बढ़ मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरा पुराना वो प्यारा चेहरा वापस दे दो मैं उन्हीं ओठों पर ओठ रख के सो जाऊंगा मेरा खोया हुआ चेहरा मुझे वापस दे दो अपने लब रख के मैं उन ओठों पर सो जाऊंगा जिनको चूमे हुए कितने ही बरस बीत गए रूह में सुर्खी लब घुल के उतर जाएगी सुबह अनफास के निकट में बस जाएगी मेरी श्वासें सुगंधित हो जाएंगी ओठों की सुर्खी मेरे प्राणों को फिर से जगा देगी पांव उठेंगे उसी शहर की जाने कि जहां कल्ब ने मेरे धड़क उठने का फन सीखा था वो क्षण वो प्रेम का क्षण जहां मेरे हृदय ने धड़क उठने का राज सीखा था उसी तरफ भागने लगूंगा दम बखुद वक्त मुझको देख के पूछेगा और समय मुझसे जरूर पूछेगा क्या तेरे शौक की वारस्ता मिजाजी है वही क्या तेरे प्रेम की तेरे लगाव की तेरी वासना की अभी भी वही मनमौजीपन है जो पहले था अभी भी तुम जागा नहीं अभी भी तू समझा नहीं अपने उलझे हुए बालों की लटें बिखराए और अगर मैं पहुंच जाऊं फिर से तो यह होगी हालत तुम्हारी भी यह हालत होगी अब तीस साल बाद अगर तुम्हें मिल जाए वो स्त्री जिसको तुम सोचते हो तुमने प्रेम किया था और तुम उसके पास उसके घर में पहुंच जाओ अपने उलझे हुए बालों की लटें बिखराए वो भी पचास की होती होगी तुम अभी भी सोचते हो वो बीस की कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी है मिल जाएगी तो पहचान भी ना सकोगे कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी अपने घर बार दरोबाम से उकताई हुई सब तरह से उबी परेशान बालों को बिखरा है ये कौन बच्चे को लिए बैठी ये चेहरा तुम्हें पहचानने में भी नहीं आएगा ये चेहरा वही नहीं है जो तीस साल पहले था नहीं हो सकता अपना चेहरा तो आईने में देखो तुम भी कितने बदल गए तुम भी वही नहीं हो वह भी वही नहीं हो सकती तुम्हें देखेगी तो घबराएगी तुम्हें मत सोचना कि पहचानेगी पूछेगी किस लिए आए क्यों घर में घुसे आते जाइए जाइए ऑफिस से वो आते होंगे अजनबी शख्स को देखेंगे तो घबराएंगे जाने क्या सोचेंगे कुछ सोच के झुंझलाएंगे आप कहा घुसे चले आ रहे तुम्हें पहचान भी ना सकेगी तुम भी ना पहचान सकोगे कौन वो कौन ये बच्चा ये थका सा चेहरा किसकी बातें कर रही है स्त्री कौन वो कौन है जो दफ्तर से आते होंगे कौन ये बच्चा ये थका सा चेहरा और तब तुम्हें ख्याल उठेगा कौन मैं अपने ही पैकर का झिझकता साया सिर्फ एक छाया मात्र हूं अतीत की वक्त ऐसा से फिजा लस से झुकाए हुए सर और समय लज्जा से सिर झुका के पूछेगा अपनी खामोश निगाहों से ये करता है सवाल क्या तेरे शौक की वारफता मिजाजी है वही क्या अब भी तेरे प्रेम का पागलपन वही है अब भी तू समझा नहीं प्रौढ़ नहीं हुआ तीस साल लंबा समय है इन तीस सालों में तुम उसी सपने को संजोए बैठे हो तो तुमने तीस साल गंवा दिए तो तुमने जिंदगी से कुछ सीखा नहीं और अभी तीस साल के बाद भी वही बचकानी बात तुम्हारे मन में घूम रही कि भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा तुम अभी सपने और ख्वाब में जी रहे हो ख्वाब से जागो काफी समय बीत गया आगे जो आ रहा है संभावना बहुत कम है कि उससे तुम्हारा मिलना हो क्योंकि जिससे तुम मिलना चाहते हो वो अब है कहा गंगा का कितना पानी बह गया जो तुम अपनी आंखों में सजाए बैठे हो तस्वीर वो तस्वीर अब कभी नहीं मिलेगी वो तो पानी पे खींची लकीर थी कब की मिट गई और जो मिलेगी उससे तुम्हारा कोई तालमेल ना बैठेगा तुम सोच भी ना पाओगे कि स्त्री इस तरह हो गई तुम पहचान भी ना पाओगे आने वाली जो घटना है वो है मौत जो पास आ रही रोज तुम अतीत में मत उलझे रहो जरा जागो स्थिति के प्रति जिंदगी हाथ से जा रही मौत करीब आ रही इसके पहले कि मौत आ जाए पको प्रौढ़ बनो ये बचकानी बातें ये कवियों को शोभा देती कवियों को माफ किया जा सकता है बुद्धिमानों को नहीं ये बातें शोभा देती थोड़ी बुद्धि पर रौनक लाओ थोड़ी बुद्धि को निखारो थोड़ा जीवन को साफ करके देखो मिल भी जाती तो क्या होता किसी को तो मिल ही गई होगी जरा उनसे पूछो उनको क्या हुआ मैंने सुना है एक पागल खाने में दो आदमी बंद और एक दर्शक देखने आया है वो पूछता है ये आदमी क्या कर रहा है क्योंकि एक आदमी एक तस्वीर लिए बैठा जैसे तुम तस्वीर लिए बैठे तस्वीर लिए बैठा छाती से लगा रहा चूमता छाती से लगा था आंसू बह रहे हैं रो रहा है वो पूछता है इस, इसको क्या हो गया तो सुप्रिंटेंडेंट कहता है ये आदमी इस स्त्री को प्रेम करता था उसे पा नहीं सका उसी में पागल हो गया और सामने ही कोठरी में एक दूसरा आदमी दहाड़े मार रहा है और दीवानों से सिर फोड़ रहा है और वो पूछता इन सज्जन को क्या हुआ और वो सुप्रिंटेंडेंट कहता इन सज्जन को वो स्त्री मिल गई जिससे वो पहला प्रेम करता था मिलने के कारण ये पागल हो गई तुम बच गए भगवान को धन्यवाद दो कोई दूसरा तुम्हारा कष्ट भोगता होगा इस जिंदगी में मिलता क्या है यहां मिलने को है क्या राख ही राख है मिल जाए इतनी सी बात तो बस बहुत है कि यहां कुछ भी मिलने को नहीं बस यही सहार है इतनी बात समझ में आ जाए कि यहां कुछ भी नहीं उस बोध से ही आदमी परमात्मा की तरफ उठना शुरू होता है जहाँ संसार का प्रेम असफल होता है वहीं परमात्मा का प्रेम जगता है अब तुम उस स्त्री की प्रतीक्षा ना करो अब तुम उस प्रेम की भी प्रतीक्षा ना करो वो जवानी का सपना था जवानी सपने देखती है गया अब तुम बूढ़े होने के करीब आए अब तुम जरा जागो अब ये जिंदगी हाथ से निकली जाती इसके पहले की जिंदगी हाथ से निकल जाए कुछ तैयारी करो मौत से मिलने की कुछ तैयारी करो और एक ही व्यक्ति मौत से मिलने में तैयार हो पाता है जो जाग जाए जो होश से भर जाए जो इस जिंदगी की असारता देख ले इस जिंदगी की असारता में ही परमात्मा का सार है यहां दिख गया कि सब असार है तो वहां दिखना शुरू हो जाता है जो सार है असार को असार की तरह जान लेना सार की तरफ जाने का पहला कदम है अब तुम आसार में मत उलझे रहो ऐसे भी बहुत समय गंवा दिया तीस साल में तो परमात्मा को पा लेते इतनी प्यास से तो परमात्मा मिल जाता इतनी प्यास को ढालते तो प्रार्थना मिल जाती तुम कूड़ा करकट पाने के लिए इतने दीवाने हो रहे मूल्य कितना है चारों तरफ देखो जो प्रेम में सफल हो गए उनको देखो जो असफल हो गए उनको देखो सब रो रहे हैं ये प्रेम प्रेम नहीं मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूं मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें असफलता होती ही नहीं परमात्मा से प्रेम जुड़ाओ वहां कभी असफलता नहीं और वही मिलता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो जब तुम साधारण जीवन के प्रेम में भी पड़ते हो तब भी तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो इसलिए साधारण प्रेम तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता क्योंकि खोज बड़े की है और साधारण बिल्कुल साधारण है तुम कंकड़ पत्थरों में हीरे खोज रहे हो नहीं मिलेंगे खोज परमात्मा की चल रही परम प्यारे की चल रही उसे खोजो वहां कोई कभी असफल नहीं होता संसार में कोई कभी सफल नहीं होता परमात्मा में कोई कभी असफल नहीं होता है आज इतना ही